उस वक्त इनसे कहा जाएगा कि आज तुम मौत को सिर्फ एक बार ना पुकारो बल्कि बार-बार मौत को पुकारते ही रहो